तब निप बचन सुनाय करीन रथ राम चढा रथ सीय सहित दो चले हृदय सिर सिरनाए चलत राम लखे था बिकल लोग सब लागे सा कृपा सिंधु बहु विधि समझा वही फिर प्रेम बस पुण्य फिर आवही तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर कर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं अवध भयावन भारे मानहु काल राति अंधियारे घोर जंतु सम पुर नर नारी डर पहिए कहीं एक निहारे घर बसान पर जन जन भूता मित मनहु जम दूता बागन बिटप बेलिकुम्भलाहि सरित सरोबर देखी न जाहे अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं घर स्मशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं बगीचों में वृक्ष और बेले कुंभला रही हैं नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता अय गय कोटिन के मृग पुरपशुचातक मोर टिकर थांग सुख सारिका सारस हंस चकोर करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु है मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर राम विकल सब है जह तह मन हो चित्रलिख काढ़े नगर सफल बनो गहबर भारी खग मृग विपुल सकल नरना निधि की किरा जी दव दुसह दुसह दिस सही दस के रघु वीर हागी चले लोग सब व्याकुल भागे श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे अर्थात पुरुष अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों के देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे विधाता ने कई कई को भीलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके सब लोग व्याकुल होकर भाग चले सब विचारु किन्ह मन माहे राम लखन सिय बिनु सुख नहा जहाँ राम तह सबये समायो रघुबीर अवध नहि कायो चले साथ यश मन्त्र दृढाये सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाय राम चरण पङ्ग कज प्रिय जी नहीं विषय भोग बस करही किति नहीं सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी बिना सुख नहीं है जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के साथ चल पड़े जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं बालक वृद्ध बिहार गृह लगे लोग सब साथ तमसा तेर निवास प्रथम दिवस रघुनाथ बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया